उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है और उसी ने सूरज और चांद को मुसखर कर रखा है हर एक अपनी मुद्दत मुकर तक चलता है सुन लो वो सब पर गालिब नहायत बख्शने वाला है